विद्वज्जन धर्मप्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों मातृ शक्ति ईश्वर की महती कृपा से अपने इस आर्य मन विकास में हम योग प्रशिक्षण का संचालन कर रहे हैं अब तक हमें हमारे कार्यों में जो कुछ सफलता प्राप्त हुई उसमें सबसे अधिक सहयोग ईश्वर का ही है और उत्तम कार्यों में सभी में अधिक सहयोग ईश्वर का ही होता है आपने संकल्प लिए व्रत लिए इन संकल्पों से व्रतों से आपका जीवन महान बनेगा जो व्यक्ति संकल्प लेके चलता है वह व्यक्ति विकास को प्राप्त करता जाता है जो व्यक्ति संकल्प दृढ़ निश्चय लेकर नहीं चलता वह निम्न स्तर पर अपने जीवन को ले जाता है एक तो जानने की बात यह है कि आप जो संकल्प लेते हैं उसमें एक विभाजन कीजिए व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा उठाने के लिए संकल्प अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या त्रुटियां हैं उनको छोड़ना और व्यक्तिगत जीवन में गुण क्या नहीं है उनको प्राप्त करना इसके पश्चात परिवार अपने परिवार में क्या क्या न्यूनताएं हैं क्या त्रुटियां हैं उनको हटाना अपने परिवार में क्या क्या विशेष बातें नहीं हैं उनको वहां पर संचालित करना समाज में आगे चलते हैं हम आर्य समाज को लो अपने आर्य समाज में क्या त्रुटियां दिखती हैं क्या कमियां हैं जिनको हम दूर करें अपने आर्य समाज में कौन सी विशेषताएं नहीं हैं जिनको हम वहां पर स्थापित करें और आगे बढ़ो देश को देखो बहुत लंबे क्षेत्र को देखो देश के व्यापक रूप कोणों में क्या कुछ न्यूनताएं हैं आज कहां कहां पर किस चीज का आक्रमण है उसको कैसे दूर करें अपने देश में कौन सी विशेषताएं नहीं हैं जिनको हम वहां उस देश को युक्त करें उस पूर्ति को हम करें आगे बढ़ो वैदिक सिद्धांत में केवल देश को ही सीमा नहीं माना जाता विश्व की ओर बढ़ो विश्व के अंदर क्या न्यूनताएं हैं क्या कमियां आ गई हैं उनको दूर करना विश्व के अंदर गुण कौन से चाहिए जो मनुष्य मात्र में हो और प्राणियों के भी हितायत को हम सोच सकें पशु आदि के ये क्षेत्र ऐसे पांच बन जाएंगे पांच क्षेत्रों में व्यक्ति को सोचना पड़ता है पांच क्षेत्रों में व्यक्ति को काम करना पड़ता है जो व्यक्ति पांचों क्षेत्रों में काम नहीं करता उस व्यक्ति का जीवन अधूरा माना जाएगा ध्यान देने की बात है कि एक तो व्यक्तिगत अपने जीवन को देखो और अपने जीवन के अंदर आपका शरीर बलवान स्वस्थ नहीं है इसको दूर करो आप विद्वान नहीं है विद्या के क्षेत्र में आपकी गति नहीं है उसमें गति करो यम नियमों का पालन आप नहीं करते उनको जीवन में ढालो अपने परिवार की ओर देखो परिवार में आपके बालक आपके भाई बहन वैदिक धर्म के अनुसार न वो उठते हैं न वो व्यायाम करते हैं न यज्ञ करते हैं न आर्य समाज में जाते हैं न संध्या करते हैं ये स्थिति देखने को मिलती है वो उस परिवार में होनी चाहिए अपने परिवारों में कमियां आ गई हैं झूठ बोलते हैं आपस में झगड़ते हैं नशों की चीजें खाते पीते हैं मांस अंडे शराब आदि खाते पीते हैं ये परिवार में कमी आई है इनको दूर करना समाज में अच्छे विद्वान नहीं अच्छे अधिकारी नहीं उनकी पूर्ति करना हमारा काम है जब ऊंचे अधिकारी ऊपर के लोग अधिकारी लोग अपनी योग्यता रखते हैं उनके जीवन में जैसी बातें होती है वैसे ही सदस्य और दूसरे लोग आचरण करते हैं जब कभी आप देखेंगे समाज का ढांचा समाज की स्थिति उसमें पता चलेगा कि क्या बात है सदस्यों पर वो प्रभाव नहीं है दूसरे मत वालों पर भी वो प्रभाव नहीं है समाज से लोग प्रभावित नहीं हो रहे तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं उच्च कोटि के विद्वान तैयार करें उच्च कोटि के सन्यासी अच्छे योग्य व्यक्ति वहां उस अनुशासन को संभालते हैं समाज में कमियां आती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं समाज के सदस्य उनके अंदर हम कन्या देखते हैं उनकी दिनचर्या हम देखते हैं उनका खान पान देखते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करते हैं अपने घर की समृद्धि के लिए जैसे प्रयास करते हैं वैसे समाज के सदस्यों का भी ऐसा ही करते हैं यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज की स्थिति निर्बल कमजोर हो जाएगी जिन व्यक्ति ये कहते हैं कि हम आर्य हैं हमारी समाज के सदस्य हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस सदस्य के चरित्र को देखता है यदि वो व्यक्ति सत्यवादी है संयमी है परोपकारी है प्रेम से रहना जानता है तो समाज का प्रभाव अच्छा पड़ेगा यदि वो समाज का सदस्य झूठा है छली कपटी है चोरी करता है झगड़ालू है तो बुरा प्रभाव पड़ेगा आप देखेंगे सुनेंगे कुछ लोग नाम आर्य रखते हैं सदस्य भी बन जाते हैं राजनीति के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सदस्य बनते हैं कोई नेता बनने के लिए सदस्य बनता है वो सदस्य बनने वाले का स्वार्थ अपना होता है और वो स्वार्थों की पूर्ति के लिए आदि समाज में प्रवेश कर जाते हैं उसके पश्चात निर्वाचन होता है प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं परिणाम ये निकलता है उन्होंने जो प्रयोजन सिद्ध करना होता है वो अपना पूरा कर लेते हैं उसी का निर्वाचन करेंगे उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो उनका स्वार्थ सिद्ध करता हो और इस बात से उसका कोई संबंध नहीं होता फिर ये आवाज हमारे सामने आती है हम कानों से सुनते हैं देखो ये आर्य है यार ये समाज के प्रधानमंत्री हैं अब देखो ये क्या खाते पीते हैं इसका बुरा प्रभाव पड़ता है इसको यह करके हम नहीं छोड़ सकते कि हमें क्या मतलब है हमें क्या है अपने परिवार में रहेंगे आर्य समाज की ओर जाना उसके लिए प्रयास करना उसका सुधार करना ये हमारा काम नहीं ये दृष्टि अच्छी नहीं है आप ध्यान दें यदि हम आर्य समाज जैसे समाज को ऊंचा नहीं उठाएंगे उसकी कमियों को दूर नहीं करेंगे तो निश्चित बात है कि उसके विपरीत विरुद्ध में बुरा समाज खड़ा होगा और होते रहते हैं बुरे समाज अज्ञानी स्वार्थी विपरीत आचरण वाले लोगों का जो है समाज खड़ा होता रहता है और वो समाज वो समुदाय अपने देश को अपने संस्कृति को नीचे गिराता है तो इसलिए हम ये कह करके दूर नहीं हट सकते कि हमें समाज से क्या लेना देना स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक भावना व्यक्त की है उसका भाव सुनाता हूं जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति अपने बालक बच्चों का पालन पोषण करता है परिवार का संचालन करता है इसी भांति उसी स्तर पर आर्य समाज को भी तन बंधन से संचालित करे ये स्वामी जी के विचार है आगे बढ़ो थोड़े से समाज की ओर देखो समाज की स्थिति देख के प्रजन राष्ट्र की देखो आप ध्यान देंगे हमारे मन में कोई संकल्प नहीं कोई वर्क नहीं है हमें कोई ये आशंका नहीं है देश कहां जा रहा है देश की स्थिति क्या है राजनीति कहां है स्वतंत्रता कहां जाएगी क्या हो रहा है किसी का ध्यान नहीं प्राय एक आध व्यक्ति को मिलता है जो देश की ओर देखता है अपने व्यक्तिगत जीवन को देख लेते हैं फिर परिवार को देख लेते हैं व्यापार को देख लेते हैं संबंधी को भी देख लेते हैं अपनी खेती बाड़ी भी देख लेते हैं दुकानदार भी अपनी दुकान को देखता है पर देश की स्थिति क्या है कितना भयंकर आक्रमण है इसको देखने के लिए तैयार नहीं है व्यक्ति इतना ही नहीं देखना ही नहीं यही बात नहीं है इतनी भयंकर अवस्था है भारत के व्यक्ति की हजारों में एक आध व्यक्ति को छोड़ो या और कई हजारों में जिसके हृदय में देश की भावना हो देश को जो तो बचाना चाहता है किंतु देश को खा लेने की योजना बनी हुई अब भूकंप आया और भूकंप के अंदर जो सहयोग दे रहे थे प्रचार हो रहा था उत्तर प्रदेश में हम रुड़की में थे हमने भी अपनी ओर से यथा योग्य कि हमारा कर्तव्य है उसको सहयोग दो एक व्यक्ति ने कहा ये जो आप सहयोग दे रहे हैं ये कहां जाएगा उन्होंने कहा कि भूकंप पीड़ितों के परिवार घर खत्म हो गए उनकी जाने चली गई कोई कोई बचा है परिवार के परिवार खत्म हो गए उनकी सहायता के लिए कहते ही बीच में खा जाएंगे सारा का सारा आप रोज देख सकते हो आप इतना खराब दिमाग इस व्यक्ति का हुआ भारत की जड़ें काटता है व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है अन्न जल लेता खाता पीता है यही इसके दादा परदादा थे सब कुछ ये है पर जिस वृक्ष पर बैठा है उसी की जड़ काटता है भारत का व्यक्ति कोई लज्जा शर्म नहीं इसके दिमाग में बड़े से बड़े कार्यालय में जाकर देखो बड़े से बड़े विभाग में देखो एक से एक बढ़कर के व्यक्ति भारत का शत्रु बैठा है बड़े बड़े कार्यालयों में उसके कलम से काम होते हैं एक कथा है समझाने की रोचक भी लगती है और मूर्खता को समझाने के लिए भी है वो एक कथा कल्पना की कि एक बिच्छुओं की पंक्ति चली जा रही थी और किसी ने पूछा भाई बिच्छू हो तुम्हारा सरदार कौन सा है वो बिच्छू कहने लगा हाथ लगा के देख लो सरदार का पता चल जाएगा भारत में देशद्रोही कौन है उसके पास जाके देख लो पता चल जाएगा पांच वर्ष का बच्चा अस्सी वर्ष का बूढ़ा भारत की जड़े खोखली कर रहा जिस देश की इतनी भयंकर अवस्था वो बचेगा कैसे क्यों इन लोगों का कोई संकल्प नहीं है कोई व्रत नहीं है कोई नियम नहीं है वेद का भाव क्या है अवर्ती दस्यु जो अवर्ती है वह दस्यु है पिशाच है वो दुष्ट है जो व्रती नहीं है उसको कुछ भी नाम दे दो ये व्रत व्यक्ति को मनुष्य बनाते हैं हमें देश के लिए ऐसे संकल्प करते हम मर जाएंगे हमारा सब कुछ चला जाएगा पर देश के अंदर कोई भी बुराई नहीं रहने देंगे तब तो हम देश में कुछ काम करेंगे देश के लिए नहीं तो नहीं कर सकते आप क्या सोचते हैं आप इतना ही सोचते हैं कि हमें खा पी लेते हैं अपनी व्यक्तिगत बातें सोचते हो ये तो कुछ भी नहीं पशुओं की बात है ये तो आपका पिता ईश्वर है आपकी मां ईश्वर है आपका आचार्य ईश्वर है आपका राजा ईश्वर है आपका मित्र ईश्वर है और अनादिकाल से है आज भी है वो प्रति है उस सदा से अनादि उसका व्रत चला आ रहा अनंतकाल तक चलेगा क्या वो ऐसा ही चाहता है कि व्यक्ति अपने जीवन को देखता रहे और समाज उसका कहीं का कभी चला जाए देश उड़ जाए बाहर भीतर से क्या ईश्वर ऐसा चाहता है कभी नहीं ईश्वर के ज्ञान में ईश्वर की आज्ञा में क्या बात है कि इतना ही नहीं मनुष्यों को ही नहीं सोचता ईश्वर ईश्वर के तो मनुष्य पशु पक्षी सारे पुत्र हैं परमात्मा तो सारे प्राणियों की हित की बात समान सोचता है और जब हम सारे प्राणियों की बात हित की समान सोचेंगे तो हम उसके पुत्र हैं नहीं तो कुपुत्र हैं क्या आप कुपुत्र बनेंगे क्या है जी इन लोगों का दिमाग खराब है ईश्वर को ने मानना ईश्वर को अपना पिता नहीं समझना ईश्वर को अपना आचार्य नहीं समझना ईश्वर को न्यायकारी नहीं समझना इन लोगों के दिमाग में क्या बात है पशु पक्षी कीट पतंग का कोई पाप पुण्य से संबंध नहीं है गाजर मूली की तरह खाओ क्यों हुआ ऐसा इन्होंने ईश्वर को पिता स्वीकार नहीं किया इन्होंने ईश्वर को माता स्वीकार नहीं किया इन्होंने ईश्वर को राजा स्वीकार नहीं किया इन्होंने ईश्वर को गुरु स्वीकार नहीं किया ये नास्ती के पक्के जो के तो ये जितने भी गद्दी पर बैठे नीचे से ऊपर तक एक आध व्यक्ति को छोड़ो वो अच्छा होगा तो उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे इसलिए ये कालांतर में और ये रोग बढ़ता जा रहा है कोई संकल्प नहीं कोई व्रत नहीं व्यक्ति का पहले ये व्रत होते थे संकल्प होते थे और वो कहते थे देखो रिश्वत नहीं लेनी है तो प्राण क्यों चले जाए देश के ऊपर कोई भी आक्रमण हम सहन नहीं, सहन नहीं कर सकते आपने चंद्रशेखर को देखा समझा उसका इतिहास देखो भगत सिंह जी का देखो बिस्मिल का देखो हजारों वीरों के आप देखेंगे उनकी भावना क्या थी उनकी वो कहते हैं हम तो मर या तो मरेंगे या आजादी देंगे इतनी अवस्था में हजारों लोगों ने खून बहाया तभी ये स्वतंत्रता मिली थी और ये आज लाखों लोग उस स्वतंत्रता की जड़ें काट रहे संकल्प कोई भी देश के लिए वही नहीं है देश के लिए और जिसको हम हिंदू या आइए इस में इसका तो दिमाग खराब हो गया भाई ये क्या करता है ये जो विरोधी लोग हैं जो शत्रु हैं उनका तो सहयोग देता है और जो मित्र हैं अपने हैं वेद के अनुकूल है उनका शत्रु बनता है इसका दिमाग आज भी वही काम कर रहा है जो कि राजपूतों के समय में किया था इसका दिमाग वही काम कर रहा है आपने मानसिंह जैसे दुष्ट लोगों ने जो किया था वही ये कर रहा आज हिंदू जी को बोलते हैं इसका कोई धर्म कर्म नहीं इसकी प्रतिज्ञा तो है नहीं वो व्यक्ति है वो कुरान का बाइबल का मानने वाला उसका मानने वाला वो कहता है तो यह कहती है मर जाओ या राजा बन जाओ वो कहता अच्छा भाई हमारा व्रत है ये नियम है और ये सारे वेदों की इतनी पवित्र वाणी इसको कोई काट नहीं सकता ये बिना दिमाग का घूम रहा है जैसे भांग पीजिए घूम रहा हो कोई भांग पीने वाली गाले सुनी है एक दृष्टान दिया जाता है नाव में बैठे थे भांग पी पी करके और नाव में रस्सी बनी हुई थी ना और चल पड़े कहेंगे भाई चलो अमुक नगर में चलेंगे चाहे दृष्टांत हो और चाहे सच्ची कथा हो ये अलग विषय है वैसे भांग पीने वाले क्या हमने समझाना है और वो चल पड़े भांग के लड्डू खाए या वैसे पी दोनों तरह से करते भांग को वो घोट के उठ के पीते हैं अच्छा लड्डू बना के खाते हैं अच्छा लड्डू बहुत मीठे लगते हैं बताते हैं आपने खाए कभी तो बताते हैं कि वो नाव को रस्ते बने होते हैं और वो क्या बोलते हैं चप्पू वो चप्पू बोलते हैं ना जिसे पानी फेंकते हैं ऐसे नाव चलाते हैं उन्होंने रस्सी तो खोली नहीं और अपना चप्पू मारते रात भर रात भर चप्पू मारते मारते मारते मारते प्रातः काल हो गया और वो भवन दिखने लगे कहेंगे भाई आ गए तो पास में ही आ गए जहां जाना था वहां पास में ही आ गए उनका भाई नगर तो ये मथुरा जैसा दिखता कल्पना करते हैं मथुरा मथुरा नहीं हम तो दूसरे वहां कहते नहीं देखो जान से भांग उतरेगी कुछ कहते हम तो वहीं है रस्से ही नहीं खोले ये तो भांग पी रहे हैं निश्चित इसलिए सर्वमय मूर्ख मंडलम एक उल्लू की कथा आती है उल्लू की खाती है पंचतंत्र में वो राजनीतिक ग्रंथ है राजनीतिक ग्रंथ है उसमें वो भाग लाता हूं एक बार झगड़ा हो गया पराजियों में झगड़ा होते होते होते होते उल्लू को सरदार बना दिया ऐसी भावना उसने वो गलत निर्णय दे दिया वो कहता सर्वमेव मूर्ख मंडलम <laughs> ये सारा मूर्ख मंडल है कड़वी भाषा इसलिए बोल रहे आपके हृदय में कुछ चोट लगे और उनके भी लगे तो भाई जब युद्ध करना होता है बुराई से अन्याय से जब तो हमको उसमें तूफान भरना ही पड़ेगा एक स्वामी समर भगवान जी सुनाया करते थे बड़ी रोचक कथा होती थी भाई यथा योग्य व्यवहार करो किसी के खेत में भैंस घुस गई वैष्णु जानो छो तुम्हें है? तो भैंस घुस गई और वो था सितार बजाने वाला बीना बजाने वाला बीना बड़ा अच्छा बजाता था और लोगों को आकृष्ट करता था तो भैंस को खेत में से निकालना था अब गाता है बोलता है री भैंस री तू खेत में मत नुकसान करे गाता है किसी ने कहा भले व्यक्ति ये बीना को नहीं जानती क्या गा रहे हो इसको एक लठ उठा के सिर में मारो उसको समझिए ये तो भैंस है लठ मारो इनके सर में तब तो ये मानेंगे पीना बजाने से ऐसे आज ना आपको कोई कान खुलेंगे ना इनके खुलेंगे इसलिए ये देश की स्थिति बड़ी भयंकर है आप याद रख लो यदि हम सावधान नहीं हुए और अपनी ओर से प्रतिज्ञाबद्ध होकर देश को बचाने की बात नहीं सोची तो ये देश बचेगा नहीं वेद बचेंगे नहीं दर्शन विद्या बचेगी नहीं योग बचेगा नहीं उपनिषद बचेंगी नहीं स्वतंत्रता बचेगी नहीं संस्कृति बचेगी नहीं सारी परंपरा ऋषियों की लुप्त हो जाएंगी अब जो करना हो सो कर आप एक टुकड़ा क्या बोलते हो संदीप्ते भवने तुकूप खननम प्रत्युद्यमा कीदृश आ गया समझ में आग लगने पर फिर कुआ खोदने से कोई लाभ इसलिए आपको ऐसा जचता है मैं कह रहा हूं होगा ऐसा या नहीं जचता हमारी बुद्धि जहां तक काम करती है जहां तक हम सोचते हैं वो बात परीक्षा की कोटी में लाके उसका मंथन करते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि ऐसा होगा यदि ऐसा नहीं करोगे तो और वो अल्पज्ञ होने से कोई बात भूल हो जाए नहीं तो वो ज्यों का क्यों होगा जीव अल्पज्ञ है कोई बात भूल कहीं अंश में रहे नहीं तो आप ये देख सकते हैं जब जब भी ये चीजें होती हैं पहले से लोग बता देते हैं देखो ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा आज जो मैं स्थिति आपको सुना रहा हूं वो ज्यों की तो है बद्ध होकर चलेंगे तो अंदर के शत्रु मारे जाएंगे और प्रतिज्ञा बद्ध होकर चलेंगे तो बाहर के शत्रु मारे जाएंगे ये तो याद रख लो रोग शत्रु और दोष इसको जो व्यक्ति छोटा मानता है ये तीनों व्यक्ति को खत्म कर देंगे क्या समझे रोग दोष और शत्रु उसको जो व्यक्ति याद नहीं रखता छोटा मान के बैठा रहता हाथ पात धरे ये इसको खत्म कर देंगे दो ही बातें या तो शत्रुओं को खत्म करो या अपने आप खत्म हो जाओ बताओ ये काम तो करना पड़ेगा कौन सा ठीक है अविद्या काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अंदर के शत्रु हैं हमारे व्यक्तिगत और ये दुष्ट राजा अज्ञानी स्वार्थी देशद्रोही जितने भी हैं ये बाहर के शत्रु हैं या तो इनको रोक दो इनको सुधार दो या इनको खत्म कर दो बस इन दोनों शत्रुओं को या तो मारो हटाओ नहीं तो ये निश्चित रूपेण हमको मारेंगे लोग आज भी नहीं दिमाग खोल के सुनते इनकी आंखें बंद हैं और जो व्यक्ति अपने देशी की बात नहीं सुनते उनका विनाश होता है वो विनाश को प्राप्त हो ही जाते ये कथा भी पंचतंत्र में आती है कथा को समझाया क्या था कथा का सार था कहते जो अपने देशी की बात नहीं मानता वो विनाश को प्राप्त होता है कल्पना की दो पक्षी थे तालाब में रहते थे कछुआ भी वहां रहता था पानी सूखने लगा तो कछुआ कहने लगा भाई मुझे भी तो कहीं बताओ ना जगह मैं तो मर जाऊंगा कुछ काल के पश्चात पानी रहेगा नहीं तालाब में क्या खाऊं पीऊंगा मार्ग से चलेंगे कोई कुछ भी कहे बोलना बिल्कुल नहीं कहता ठीक है आकाश मार्ग से ऐसे गया विचित्र विमान की तरह जैसे अब वो जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो जंगल में रहने वाले होते हैं ना बड़े लठ रखते हैं कोई जंगली पशु चराने वाला होते तो देखो क्या जा रहा क्या जा वो क्या है और किछुए पर रुका नहीं गया तो मूर्ख हो तो मुंह से लकड़ी छूट गई नीचे गिर गया रुका का निकाल दिया जो हितैषी की बात नहीं मानता उसका कचुम्बड़ निकलता है मारा जाता है तो ये जो आप देख रहे हो आज ये जो भारत देश की गतिविधियां ये सारी की सारी व्रतहीन प्रतिज्ञाहीन संकल्पहीन लोगों का काम है निश्चित बात इसमें कोई संदेह नहीं है जिस मां ने अपने बेटा बेटी को जिस विद्यालय में जिस गुरु ने जिस भी संस्था में जिस राजा ने उसको संकल्प नहीं दिलाए जाति और संकल्प वो नहीं रहता वो सारी बुराई करता है संकल्प के न होने पर सारी बुराई कर सकता कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और संकल्प होने से व्यक्ति मर सकता है फिर वो बुराई को नहीं करेगा संकल्प एक ऐसी चीज है व्रत एक ऐसी चीज है वो ईश्वर के मिलाने में भी समर्थ है ध्यान देना आपने संकल्प लिया और फिर जानबूझ के तोड़ दिया आपने कोई बात कही जिससे झूठ बोल दिया एक बार दो बार मैं देखूंगा परिणाम यह निकलेगा आप एक दो बार झूठ बोलेंगे आपका जीवन भर विश्वास समाप्त हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात कही जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को झूठा करता है उदाहरण दिया जैसे मैं आपको अमुक जगह पे मिलूंगा मैं आपको अमुक चीज दूंगा और वो नहीं देता तो उसका विश्वास समाप्त हो जाता है एक बार चोरी जारी मिथ्या भाषण करने से जीवन पर विश्वास नहीं होता व्यक्ति का तो आप ध्यान दो संकल्प लेके चलो और देश की जो स्थिति आज आपके सामने है और सारे भारत के सामने है हम इन्हीं गिने लोग हैं जो ध्यान देते हैं इन लोगों का तो ध्यान बिल्कुल नहीं है आप रोज तमाशे देख रहे हो नीचे से ऊपर तक इनके हाथों से हम सुरक्षित रहेंगे ये हमको बचाएंगे बिल्कुल नहीं कोई धर्म कर्म इनका नहीं है इसलिए ये आशा लगाए बैठना हमारी सरकार हमारी सहायता करेगी ये हमको बचाएगी ये कुछ भी नहीं अब आप अपने अपने ढंग से अपनी अपनी योग्यता के आधार पर संकल्प लेके चलो और ध्यान दो समाज के क्षेत्र में और अपने व्यक्तिगत परिवार में हम ही कामों को कैसे चलाते एक तो यह ध्यान दो संकल्प लेके चलने वाला व्यक्ति है कल्पना कीजिए और संगठित नहीं रहता वो तो फिर काम नहीं होगा व्यक्तिगत संकल्प ले लिया आपने पर सामाजिक संगठन आपका नहीं है तो सामाजिक संगठन न होने से वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता एक व्यक्ति बलवान है एक व्यक्ति धनवान है एक व्यक्ति विद्वान है एक व्यक्ति योद्धा है अलग अलग हैं वो चारों के चारों या जितने भी होंगे सारे मारे जाएंगे ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र चार वर्ण होते हैं चार विभाग होते हैं वो चारों के चारों संगठित होकर चलते तो सफल हो जाते हैं ब्राह्मण की जहां आवश्यकता हो ब्राह्मण का काम करता है क्षत्रिय का काम होता क्षत्रिय करता वैश्य का काम होता वैश्य करता और जो तीनों से नहीं कर सकता वो शारीरिक सेवा ही करता है आप में से जो धनवान है वो धन दो देश जाति के बचाव के लिए जो व्यक्ति बलवान है वो शरीर से सेवा करो जो विद्वान है वो विद्या से करो संकल्प लेके चलो जो आप अभी विद्यार्थी के रूप में वो अपने आप को तैयार करो विद्या में तैयार करो व्यायाम करके शरीर को बलवान बनाओ और अपना युवकों के अंदर वो लहरी पैदा कर दो और अपनी एक टोली बनाओ गांव गांव में नगर नगर में आप देख सकते हैं यदि हम ऐसे ऐसे बना लेंगे अपने अपने दल तो ये दुष्ट लोग जो आक्रमणकारी और करेंगे और करते आए हैं ये हटाए जा सकते हैं और यदि आप आंख मीच के बैठे रहे कोई तैयारी नहीं की तो आप लाख होंगे वो दस बीस पंद्रह व्यक्ति ही सबको इकट्ठा कर देंगे समाप्त कर देंगे ये स्थिति रहती है इसलिए जैसी स्थिति हो वैसी उसको तैयारी करनी होगी और ध्यान दो हम विद्या पढ़ा सकते हैं हम योग सिखा सकते हैं ठीक है पर हमको यदि बाहर से सहायता नहीं मिले तो हम विद्या नहीं पढ़ा पाएंगे योग नहीं सिखा पाएंगे विद्यालय नहीं चला सकेंगे तो आपका काम यह बनेगा कि सारा उत्तरदायित्व तो आप लो अपने ऊपर खर्चे का उत्तरदायित्व तो आप लो करने का हम लेते हैं सेना देखिए आपने भारत की कितनी बड़ी है और सेना पर खर्च कितना होता है है कुछ याद है पैंतालीस प्रतिशत होता है मिला के अकेली सेना पर पैंतालीस प्रतिशत कितना होता है अकेली सेना पर खर्च जब भारत कुछ बचा हुआ है कल्पना की थी तब भारत कुछ बचा हुआ है और विद्वानों पर विद्वान तैयार करने पर योगी तैयार करने पर गुरुकुल चलाने पर क्या खर्च हो रहा है वो अपनी जगह वो रहेगी वो चीज वो शक्ति है क्षत्रियों की पर ब्राह्मण शक्ति की बनी होगी तो क्षत्रिय शक्ति नष्ट हो जाएगी मूर्खों का टोल होता है आपस में टकरा जाएंगे बुद्धि काम नहीं करेगी उनको दिशा दिखाई नहीं देती वो विद्वान सन्यासी तत्व देवता ही दशा दिखाते देखो ऐसे करो ऐसे मत करो लड़ाई झगड़े आपस के उनको खत्म कर देते हैं वो और फिर वो प्यार से रहते हैं यदि सेना प्यार से नहीं रहती तो आपस में कट के मर जाती है किसी की सेना को देख लो आप जाके तो इसलिए आप ये ये सोचो हमने वही काम कर रहे हैं धन वही खर्च करना है जहां की विद्वान तैयार होते हैं धन वही खर्च करना जहां अंग उपांग पढ़ाए जाते हैं जहां सदाचारी पैदा होते हैं इसलिए आप स्वयं करो और उन्होंने उसमें विषय दो अब जब दूसरे संप्रदायों के जो खर्च करते हैं उनके पास कार होती है विमान में चलते हैं कितने बड़े बड़े आश्रम होते करोड़ों रुपए के और वहां उसकी पूरी तैयारी होती है उस ओर चलिए आप उत्तर प्रदेश की ओर एक युवक है आनंद सुमन वो संप्रदाय इस्लाम से आए उन्होंने सुनाया था जैसा मैं सुना रहा हूं देवबंद विद्यालय बताया उन्होंने उत्तर प्रदेश में देवबंद वहां विद्यालय है उन्होंने जहां तक बताया जो मुझे याद है जैसा याद है वैसा सुनाता हूं जहां तक मैं भूलता नहीं तीस हजार यूरो के जवान कुरान के तैयार किए जा रहे हैं एक विद्यालय की कथा है पता नहीं कितने विद्यालय उनके तीस हजार युवक सारी व्यवस्था देकर के कुरान के विद्वान व्याख्याता वक्ता उपदेशक संचालक देश विदेश में जाके प्रचार करेंगे इस्लाम मत का एक विद्यालय की कथा सुना रहा हूं और सारा प्रबंध मुसलमानों की ओर से अपने यहां तीस ब्रह्मचारियों का नहीं तीन का भी मिलना मुश्किल हो कहीं कहीं क्या आप उसका प्रतिकार करेंगे कैसे हटाएंगे आप इन चीजों को इतनी बड़ी भारी शक्तियां जुटाई जा रही हैं धर्म के क्षेत्र में प्रचार के क्षेत्र में लेख के क्षेत्र में और आंतरिक आंतरिक संगठन आंतरिक तैयारियां घरों में क्या होना चाहिए घरों में हमारे बचाव के साधन क्या होने चाहिए अड़ोस पड़ोस के लोगों को क्या करना चाहिए ये तैयारी हमारे पास वो भी नहीं है घरों में डंडा भी नहीं रखते ये तो लोग डंडा रखे तो इनको लज्जा आएगी देखो डंडा रखता है जी डंडा रखने में लज्जा आती है इस व्यक्ति को नहीं आती क्या और कठपुतली की तरह झोला तो लेके चलेगा कहीं उसको भी कहेगा फेंक दे तो अच्छा है रुमाल भी पता नहीं कैसे ले चलता है मुंह पूछना पड़े ये दिमाग है या कद्दू है तो एक व्यक्ति हमको कहते लाठी को रखते हो उनका रक्षा करते हैं इससे हम आपको डर लगता है मैंने कहा डर और चीज है रक्षा और चीज है अब घटना सुनाता हूं मैं लाठी तो रखता ही हूं और हिंसा हिंसा का पालन करता हूं मैं पर रक्षा से कभी नहीं चुकूंगा तो मैं लाठी रखता हूं देखिए लाठी एक बार यूं दिखा दिया जाएगा तो कमजोर से व्यक्ति के प्राण निकलने को हो जाए एक बालक था बड़ी एक मनोरंजन घटना है वो चार वर्ष का लगभग श्याम सुंदर आर्य के घर में रहता था और बहुत रोता उसकी बेटी का बेटा था बहुत रोता इतना रोता इतना रोता उसको जीने नहीं दिया उसने मैंने कहा क्या बात है कहते स्वामी जी क्या बतलाऊं ये कहता है अब ये दे दो दे देती हूं कहता नहीं ये दे दो वो दे दो बेटा ये दे दो एक के पीछे दूसरा ही मांगता ही नहीं थक रहा रो रहा है मैंने वो लाठी उठाई ये तो मेरी रहती है मैंने क्या बात है बस फिर क्या था आंख वहां चुप एक दिन हो गया पता नहीं दो दिन हो गए रात को एक बजे रोने लगा हूं रात्रि में और मैंने सुना कि वही है मैं चंद्र उड़ के गया <laughs> लाठी ले चुप तो कथा सुना रहा था ना मैं मैं चला भ्रमण के लिए लाठी मेरे हाथ में मैं सावधान भी रहता हूं पशु आते हैं ना गवे एक सड़क से आ रही थी उसमें एक बहुत खूंखार सांड था विदेशी मारने वाला टक्कर मारने वाला सीधा व्यक्ति को खत्म कर दे अब मैं ऐसे निकला वो यूं था और ये यूं अकड़ गया वो अब जब अकड़ गया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं अकड़ती ही कई बार ये मारते नहीं है पर वो और ऐसा दिखा भाई तो मारेगा जरूर और मेरे हाथ में जो लाठी थी ना उसके एक मारी नाक पर और बड़ा तगड़ा था वो तैयारी करने लग गया थोड़ी देर के लिए टक्कर मारने के लिए मुझे मैंने देखा हां जैसे उसे टक्कर मारने की खोजा कि मुंह ऊपर को भाग गया ऊंचाई में और वो आया यू थोड़ा सा बच गया नहीं तो खत्म कर देता मुझे ऐसे हो गया मैं ऊपर को उसकी टक्कर दूसरी ओर गई एक फिर मारा नाक पर मैंने उसके ऊपर खड़ा हो गया अब आप समझते हैं हमें उससे कोई बैर नहीं पर जब वो हमारे प्राणों को लेने आएगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे कुत्ते कई बार कुत्ते जो होते ना पीछे लगा देते जानबूझ के ऐसे करके ये कुत्ते वाले लोग होते ना बड़े कई लोग जानबूझ के करते हैं ऐसा तमाशा देखने के लिए दंगा हाथ में होता तो हम कुत्ते को हटाते और भाई कई लाठी नहीं भी होती कई बार <laughs> तो क्या करते ये बता देता हूं और हाँ, गुरुकुल के लिए राम संग्रह के लिए गए मैं लाठी रखता था तो लाठी में भूल गया वहां तो अन्न लिखते हैं गांव गांव में जाकर के हम लिख ही रहे थे तो काटने वाला कुत्ता जानबूझ के मेरे पीछे लगा दिया तो भाई काटने काटने को जो आया आया ना जैसे हाथ में तो कुछ था ही नहीं बस मैं भी तैयार हो गया कहीं कान कहीं मुंह कहीं पूछ कुछ तो कुछ तो हाथ में लगे हो वहीं से पकड़ूंगा मैं चार तो भी काटेगा वो और एक दो चार दांत मार जाएगा कोई बात नहीं क्योंकि टांग आ गई तो टांग पकड़ के घुमाएंगे कुछ आ गई तो पूछ गए वही कुछ नहीं कुछ तो उसको करना चाहिए अब आप जो है पता नहीं कैसे चलते हुए मुझे तो व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए साधन जुटाने पड़ते घरों में माताएं रहती हैं और परिवार के परिवार खूब परिवार दिन में एक दो व्यक्ति दुष्ट छुरा पिस्तौल लेके दिल्ली जैसे राजधानी में और दिन में सारे सोने चांदी के आभूषण ले जाता है और वो चुपचाप बैठे रहते परंतु याद रखना यदि चोर को डाकू को पता चल जाएगा ये घर ऐसा है लाठी भी रखता है छुरा भी रखता है भाला भी रखता है और ये पहले मर जाएगा और तेरा माथा फोड़ के मरेगा ये उसमें डाकू आएगा नहीं कम से कम माथा फेरने पर उसको पहचान तो नहीं है माथा कहां पूजा है पकड़ने में सहायता होगी आपको सब जगह ऐसा करना पड़ेगा और ये भेड़ बकरियों की तरह रियाल की तरह भागना दस भेड़ बकरियां हो ना एक भेड़ी आ जाए तो सारी कोने में इकट्ठी हो जाती है कबूतरों की हालत है हमारी कबूतर भेड़ी क्या बने इतना कायर कमजोर व्यक्ति है ये कबूतर परस्पर इतने लड़ते हैं ये इतने लड़ते हैं बस पूछो मत यहां कबूतर घोद थे कई बार मैं देखता रहता हूं दिल्ली में ही बहुत कबूतर मैं इनका देखता हूं तमाशा ये सो बैठे हैं तो सो के बीच में दस पांच लड़ाइयां सदाचार चलती रहेंगी लड़ाई दो दो की दो की यहां दो की यहां दो की यहां लड़ाई पर लड़ाई लड़ाई पर लड़ाई एक सेकंड बैठने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल थक जाएगा तो बोले अपने घर में अपने के खून बहाने का इसका काम कबूतर का अब दूसरी ओर देखना और एक कौआ आ जाए काला कचोला पतला सा सो कबूतरों में अरे इनके अंडों को खाएगा मजे से बच्चों को खाएगा और सौ के सौ ऐसे बैठे रहेंगे भक्त की तरह ये कबूतरों की हालत है आप उसमें कटे मरो भारतीय और बाहर के जो दुष्ट लोग आकर के इसको खा जाए तो आप याद रखो ये काम करके जाओ भगवान आपको छोड़ेगा नहीं यदि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो गधा ये यूनियन क्यों बना दी ये इसलिए बनाई है जो स्वार्थी लोग थे आपस में झगड़ते हैं देश की रक्षा नहीं करते वेद की रक्षा नहीं करते पशु यूनियन में जाते हैं और भोगो मारो चक्कर छूटने वाला कोई भी नहीं है और आप नहीं अपनी रक्षा करोगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे मैं सीधी बात है इसलिए अपनी सब तरह की तैयारी करनी है और प्रत्येक व्यक्ति शरीर से धन से विद्या से अपने देश की रक्षा करें सारे संकल्प लेके चलो पहले बहुत थोड़े लोग होते हैं संकल्प लेके चलने वाले थोड़े होते हैं पहले उनके पीछे पीछे दुनिया इकट्ठी हो जाती है दो तीन व्यक्ति आगे चलते हैं पीछे सैकड़ों और हजारों चलते हम तो ऐसा ही काम करते बिल्कुल अपने आचरण अपने विचारों को सभी लोगों तक पहुंचाते हैं और दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं हमें ये कोई भी इच्छा नहीं हमको खाने की चीज ऐसी मिले हमें कारों में बैठेंगे हमें गद्दों पर सोएंगे हमको सम्मान मिलेगा और कुछ नहीं और ध्यान रखना हम इतना काम करते हैं पर हम संसार से सुखी हैं असली सार ये निकलेगा फिर नहीं समझे आप हम सारे काम करते हैं सुख के लिए हम सारे काम करते हैं दुख को हटाने के लिए जिस काम के करने से दुख का विनाश हो जाता है जिस काम के करने से आनंद मिलता है वो यही काम है ईश्वर का स्वभाव परोपकारी है ईश्वर का स्वभाव दयालु है ईश्वर का स्वभाव है मनु रसी मनु मई धेय अन्याय को कुचलने का स्वभाव है न्याय को चलने का स्वभाव है द्वेष नहीं न्याय करना और चीज है द्वेष बिल्कुल और चीज है गलत बात झूठी बात गलत बात को नहीं आने देने आगे सबके कल्याण के लिए ये न्याय है इसी के ऊपर हम चलेंगे तो संकल्प लेके चलो और जब जब संकल्प टूटते हैं भंग होते हैं तो प्राश्चित करो फिर आगे बढ़ जाओ फिर आगे बढ़ जाओ फिर आगे बढ़ जाओ लाख बार गिरो लाख बार उनको कभी मेरा चला मत क्या करिए आप Gracias. जीवन की बात नहीं कर रहा तो क्या होगा विनाश है जी वित्त से तीसरो गते थी दान भोग और नाश विद्या में भी यही है पर याद रखना ईश्वर का स्वभाव है दयालु परोपकारी जैसे हम परोपकार में अपने आप को लगा देते हैं इसमें हम सबसे अधिक लाभप्रद स्थिति को प्राप्त करते हैं कोई दिमाग से ये निकाल दे कि तनमन में से दूसरों के लिए प्राणों का निछावर करने वाला व्यक्ति निष्काम भावना से जीने वाला व्यक्ति वो दुखी है वो कंगाल है वो पिछड़ा हुआ है बिल्कुल नहीं है वो महान है सबसे सुखी है ईश्वर का एक पात्र है ईश्वर की दृष्टि में वो मोक्ष का अधिकारी बनता इन कामों को क्यों नहीं करें हम इसलिए आप यहां आए हैं और हमको तो मनुष्य चाहिए धन से कम दे देना है जी ये नहीं करना बिल्कुल बंद कर दो धन धन से कम दे देना और शारीरिक जो कोई सेवा देते हो पर मनुष्य चाहिए बस माताएं बहने स्त्री पुरुष सभी बस देश जाति और धर्म की रक्षा के लिए बस प्रतिज्ञाबद्ध होकर चलने चाहिए ऋषि दान जैसे आदर्श को सामने लेकर के और उन युवकों को बलिदानियों के दिमाग में रखते हैं चंद्रशेखर भगत सिंह ऐसे दिमाग बनाने वाले क्षत्रिय चाहिए महर्षि दान जैसे ब्राह्मण चाहिए योगी चाहिए ये सब लोग करेंगे हम इस देश को सुरक्षित रखेंगे बचाएंगे आप जो करेंगे तो अब तो मैं एक बोलता हूं दो चार हैं हम आप सैकड़ों हो जाएंगे तो सैकड़ों से हजारों हो जाएंगे ऐसे धीरे धीरे जब अंग्रेजों का राज्य था ना महात्मा गांधी सुभाष जी लड़ रहे थे युद्ध कर रहे थे ना तो ए, ये जो तो बूढ़े बूढ़े लोग होते ना बिना पढ़े लिखे ऐसे ये पगड़ी तो थोड़ी सी ऐसे पगड़ी मानते थे बहुत पहले कुछ लोग तो वो हमको सुनाते थे कहते थे भाई हो सुनो ये महात्मा गांधी जी और शिवाजी पागल है जहां अंग्रेजों का राज्य वहां तक है जहां सूर्य उदय होता है जहां छिप जाता है ये कभी हट सकते हैं हाँ ठीक बात है भाई ठीक ये हटाए नहीं जा सकते ये कुछ नहीं है अंग्रेजों की क्या कथा है चाहे जितना बड़ा दुष्ट व्यक्ति है उसको मिलकर सब उखाड़ के फेंक देते तो इसलिए ये मत सोचो कि हम इन बुराइयों को नहीं हटा सकते इस अन्याय को नहीं हटा सकते ये हमने सोचना ही नहीं है हम तो जब तक जियेंगे एक एक प्राण रहेगा अन्याय का विरोध करेंगे अविद्या का विनाश करेंगे विद्या की वृद्धि करेंगे तो ऐसे करके चलो आप यहां इतने आए हो हम सोचते हैं कि तैयार होकर जाओगे कुछ ना कुछ नहीं ठीक है ना और बूढ़े जो है वो सलाह सम्मति से लोगों में काम करते बूढ़ा उछल नहीं सकता कूद नहीं सकता पर बूढ़ा सुझाव देता है बूढ़ियाई माता सुझाव देती है लड़कियों को सबको बैठा करके उनको तो तैयार करती दिमाग बनाती माता जीजावाई क्या करती थी शिवाजी के लिए सारा चित्र वही कहती थी देखो बेटा ऐसे करना ऐसे करना उसके हृदय में तड़प थी इन माताओं के हृदय तड़प तो, तो बेटा बेटी को नहीं सिखाएंगे हृदय तो देह है ही नहीं कहीं भी स्वार्थ बड़ा बड़ा हृदय में पिता के हृदय में देश नहीं है अपना स्वार्थ भरा हुआ है कुछ हृदय में देखो तो देश जाति के लिए हृदय को स्थान हृदय का स्थान खाली करो और फिर देखो कैसे प्रेरणा नहीं दोगे आप तो सब बूढ़े नहीं कर सकते उनको बच्चों को प्रेरणा देते घरों में आधा घंटा इकट्ठा करो बच्चों को माताएं लड़कियों को इकट्ठा करें उनको पाठ पढ़ाएं विविध प्रकार का देशभक्ति का मातृभक्ति का गुरु भक्ति का वेद भक्ति के पाठ पढ़ाओ और वीरता के भाव भरो आधा घंटा रोज लगाओ परिवारों में वहीं से माताएं नहीं पैदा होंगी वहीं से पैदा होंगे इनका कोई काम नहीं वो ताश लेके क्या करते पत्ते ऐसे मारो मारो मारो चौपट फलाना इसका दिमाग खराब हो रहा है आठ पे बैठे रहेंगे वहां और जब उसी से जुआ शुरू कर देंगे उसी से ये तो गाजर मूली की तरह कटेंगे बाय अब इनको सोने दो कोई बात नहीं आलसी लोग तो अपना काम करेंगे हम पुरुषार्थी बने और ईश्वर सदा काम करता है अच्छा ईश्वर कभी आराम करता है क्या इतना दुखी रहता है आराम कभी नहीं करता अन्ना सोता है अन्ना लेटता है और सबसे सुखी है तो काम करने से दुख नहीं होता आलसियों को दुख होता है आलसी तो ऐसे पड़ा रहेगा आंख खोल लगाकर बीचेगा और वो देखेगा कभी मुझे काम को न कह दिया जाए फिर फिर दुखी होगा फिर वो देखेगा फिर सोचेगा मुझे काम से न कह दिया जाए वैसे दुखी रहेगा वो लेगा लेगा ये आग सीधे लोग होते हैं इतने भयंकर होते हैं इनके पूछो मत एक दृष्टांत आलसियों का दिया एक गाड़ी वाला आया बैलगाड़ी आई एक आगे खाच को पड़ा था आलसी वो कहने के तू इस खाच को दूर कर ले कहता तू ही उतर के कर दे <laughs> चार माई को दूर कर दे ये आलसी लोग प्रमादी लोग हैं ये सारे सारे दुखी है त्यागी जो नहीं है देश जाति के लिए तो धन जी के सारे दुखी है कोई सुखी नहीं है ना कोई सुखी होगा अब देखो पाठ तो पढ़ा दिया अब करना आपका काम है संकल्प लेके चलो ईश्वर के पुत्र हैं हम ईश्वर हमारी माँ है हमारा गुरु है हमारा आचार्य है वही था रहेगा भी वही बदलेगा नहीं देश में सांसारिक माँ बदलती है सांसारिक पिता बदलते हैं सांसारिक बेटा बेटी बदलते हैं कहीं हम उनकी माँ और कभी वो हमारी माँ कभी हम उनके पिता और कभी वो हमारे पिता पर ईश्वर सदा पिता ही रहता है हम सदा पुत्र ही रहते हैं ईश्वर सदा माँ ही रहती है हम पुत्र ही रहते हैं ईश्वर सदा गुरु ही रहता है हम शिष्य ही रहते हैं ईश्वर सदा राजा ही रहता है हम प्रजा ही रहते हैं अनादि माता पिता जो हमारा है हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो खूब संकल्प लेके चलो और तन से मन से धन से विद्वानों को तैयार करो जितना धन है वो धन दो और जितने शरीर से सेवा करते हो शरीर से दो प्रचार करने के लिए तो प्रचार करो देश जाति को सम्मिलित बनाने के लिए घरों में जा जाकर प्रेरणा दे लोगों को देखो देश के लिए कितने खतरे पैदा हो चुके हैं ऐसे हम करेंगे और ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है